जिसमें कुर्म रूपी भगवान जनार्दन ने रसातल में इंद्र दिन की कथा के प्रसंगवश इंद्र के निकट धर्म अर्थ काम और मोक्ष के महात्म का ऋषियों के प्रति वर्णन किया है उसे पंचदश कुर्म पुराण कहते हैं यह लक्ष्मी कल्प से संबंध रखने वाला है इसमें 18000 श्लोक हैं जो मनुष्य सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के प्रारंभ काल में स्वर्ण निर्मित कक्षप सहित कुर्म पुराण का दान करता है उसे एक हजार गोदान करने का फल प्राप्त होता है मुनिवरों जिसने कल्प के प्रारंभ में भगवान जनार्दन ने मत्स्य रूप धारण करके मनु के प्रति श्रुतियों की प्रवृत्ति के निमित्त नृसिंहा अवतार के वृतांत का आश्रय लेकर सातों कल्पों के वृतांतों का वर्णन किया है उसे षोडश मत्स्य मत्स्य पुराण जानना चाहिए उसमें चौदह हजार श्लोक हैं जो मनुष्य विश्व योग मेष अथवा तुला की संक्रांति में स्वर्ण निर्मित मत्स्य और दुधारू गौ के साथ इस पुराण का दान करता है उसके द्वारा समग्र पृथ्वी का दान संपन्न हो जाता है अर्थात उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ कल्प के समय विश्वांड ब्रह्मांड से गरुण की उत्पत्ति के वृतांत का आश्रय लेकर उपदेश दिया है उसे इस लोक में सप्तदश गारुण गरुण पुराण कहते हैं उसे भूतल पर 29000 श्लोकों का कहा जाता है जो पुरुष स्वर्ण निर्मित हंस के साथ इस पुराण का दान करता है उसे मुख्य सिद्धि प्राप्त होती है और वह शिवलोक में निवास करता है जिसमें ब्रह्मा ने पुनः ब्रह्मांड के महात्म का आश्रय लेकर वृतांतों का वर्णन किया है तथा जिसमें भविष्य कल्पों का भी विस्तार पूर्वक वर्णन सुना जाता है उसे ब्रह्मा ने अंतिम अष्टादश ब्रह्मांड पुराण बतलाया है वह ब्रह्मांड पुराण 12200 श्लोकों वाला है जो मानो व्यातिपात नामक योग में पीले रंग के दो ऊनी वस्त्रों के साथ इस पुराण का दान करता है उसे एक हजार राजसूय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है उसी ब्रह्मांड पुराण को यदि स्वर्ण निर्मित गौ के साथ दान किया जाए तो वह ब्रह्मलोक प्राप्ति रूपी फल का प्रदाता बन जाता है अद्भुत कर्मा महर्षि वेदव्यास ने मेरे पिता रोमहर्षण के प्रति इन चार लाख श्लोकों का वर्णन किया था उसी को मेरे पिता ने मुझे बतलाया और मैंने आप लोगों के प्रति निवेदन कर दिया है परमर्श व्यास जी ने मृत्यु लोक में लोक हित के लिए इसका संक्षेप कर दिया है किंतु देवलोक में तो यह आज भी 100 करोड़ श्लोक से युक्त ही है ऋषियों अब मैं उन उप पुराणों का वर्णन कर रहा हूं जो लोक में प्रचलित हैं पद्म पुराण में जहां नरसिंह अवतार के वृतांत का वर्णन किया जाता है उसे नरसिंह नरसिंह पुराण कहते हैं उसमें 18000 श्लोक हैं जिसमें स्वामी कार्तिक ने नंदा के महात्म का वर्णन किया है उसे लोग नंदी पुराण के नाम से जानते हैं मुनिवरों जहां भविष्य के चर्चा सहित शाम्ब का प्रसंग लेकर कथानक का वर्णन किया गया है उसे लोक में सांब पुराण कहते हैं इस प्रकार सूर्य महिमा के प्रसंग में होने से उसे आदित्य पुराण भी कहा जाता है द्विजवरों उपयुक्त 18 पुराणों से पृथक जो पुराण बतलाए गए हैं उन्हें इन्हीं से निकला हुआ समझना चाहिए पुराणों में बतलाए गए सर्गादि पांच अंग तथा आख्यान भी कहे गए हैं उनमें सर्ग ब्रह्मा द्वारा की गई सृष्टि रचना प्रतिसर्ग ब्रह्मा के मानस पुत्रों द्वारा की गई सृष्टि रचना वंश सूर्य चंद्र अग्नि आदि मनवंतर स्वयं भू आदि मनुओं का कार्यकाल और वंशानुचरित पूर्वोक्त वंशों में उत्पन्न हुए नरेशों का जीवन चरित्र ये पांच पुराणों के लक्षण बतलाए गए हैं इन पांच लक्षणों वाले सभी पुराणों में सृष्टि और संहार करने वाले ब्रह्मा विष्णु सूर्य और रुद्र के तथा भुवन के महात्म का वर्णन किया गया है धर्म अर्थ काम और मोक्ष का भी इनमें विस्तृत विवेचन किया गया है इनके विरुद्ध आचरण करने से जो फल प्राप्त होता है उसका भी निरूपण किया गया है सत्वगुण प्रधान पुराणों में भगवान विष्णु के महात्म की तथा रजोगुण प्रधान पुराणों में ब्रह्मा की प्रधानता जाननी चाहिए उसी प्रकार तमोगुण प्रधान पुराणों में अग्नि और शिव जी के महात्म का विशेष रूप से वर्णन किया गया है संकीर्ण पुराणों उप पुराणों में सरस्वती और पितरों का वृतांत कहा गया है सत्यवती नंदन व्यास जी ने इन 18 पुराणों की रचना कर इनके कथानकों से समन्वित संपूर्ण महाभारत नामक इतिहास की रचना की जो वेदों के अर्थ से संपन्न है वह एक लाख श्लोक में वर्णित है महर्षि वाल्मीकि ने जिस उत्तम रामोपाख्यान रामायण का वर्णन किया है उसी को पहले 100 करोड़ श्लोकों में विस्तार करके ब्रह्मा ने नारद जी को बतलाया था नारद जी ने उसे लाकर वाल्मीकि जी को प्रदान किया वाल्मीकि जी ने धर्म अर्थ और काम के साधन स्वरूप उस रामायण का लोक में प्रचार किया इस प्रकार ये सवा लाख पांच श्लोक मृत्यु लोक में प्रचलित बतलाए गए हैं विद्वान लोग इन पुराणों को पुरातन कल्प की कथाएं मानते हैं इन पुराणों का अनुक्रम धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला है जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है यह परम पवित्र और यश का खजाना है यह पितरों को परम प्रिय है यह देवताओं में अमृत के समान प्रतिष्ठित है और नित्य मनुष्यों के पाप का हरण करने वाला है इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में पुराणानुक्रमणिका विधान नामक 53वां अध्याय संपूर्ण हुआ 54वां अध्याय नक्षत्र पुरुष व्रत की विधि और उसका महात्म सूत जी कहते हैं ऋषियों इसके बाद अब मैं व्रत और उपवास से समन्वित सभी दान धर्मों का पूर्ण रूप से उसी प्रकार वर्णन कर रहा हूं जैसे इस मृत्यु लोक में मत्स्य भगवान ने मनु के प्रति किया था इसी प्रकार महादेव जी तथा बुद्धिमान नारद जी के संवाद में धर्म काम और अर्थ को सिद्ध करने वाला जैसा वृतांत घटित हुआ था उसे भी बतला रहा हूं पूर्व काल की बात है एक बार भगवान शंकर जो तीन नेत्रों से युक्त कामदेव के शत्रु और कामदेव के शरीर को दग्ध करने वाले हैं कैलाश पर्वत के शिखर पर सुख पूर्वक बैठे हुए थे उसी समय देवर्षि नारद ने उनके पास जाकर ऐसा प्रश्न किया नारद जी ने पूछा भगवन आप तो देव देवेश्वरों के भी देव तथा ब्रह्मा विष्णु और इंद्र के अधीश्वर हैं इसलिए यह बताइए कि आपका अथवा भगवान विष्णु का भक्त पुरुष किस प्रकार धन संपत्ति निरोगता सौंदर्य आयु भाग्य और सौभाग्य रूपी संपत्ति से संपन्न हो सकता है अथवा विधवा स्त्री जन्मांतर में किस प्रकार समस्त गुणों एवं सौभाग्य से संयुक्त हो सकती है तथा देव इस लोक में कोई अन्य मुक्तिदायक व्रत हो तो क्रमशः उसे भी बतलाइए ईश्वर ने कहा ब्रह्मन आपने तो बड़ा उत्तम प्रश्न किया यह तो समस्त लोकों के लिए हितकारी है नारद जो सुनने मात्र से शांति प्रदान करने वाला है वह व्रत में बतला रहा हूं सुनो नक्षत्र पुरुष नामक एक व्रत है जो भगवान नारायण का स्वरूप ही है इस व्रत में चैत्र मास आने पर भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करते हुए विधि पूर्वक चरण से लेकर मस्तक पर्यंत की एक विष्णु की मूर्ति बनावें फिर ब्राह्मण द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर मूल आदि नक्षत्रों में क्रमशः भगवान विष्णु की उस प्रतिमा का पूजन करें मूल नक्षत्र में विश्वधराय नमः विश्व के धारक को नमस्कार है यूं कहकर दोनों चरणों की रोहिणी नक्षत्र में अनंताय नमः अनंत को प्रणाम है कहकर दोनों गुल्फों की तथा अश्विन नक्षत्र में वरदाय नमः वरदाता को अभिवादन है कहकर दोनों जानुओं और दोनों जंघाओं की पूजा करें पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नक्षत्रों में शिवाय नमः शिव जी को नमस्कार है कहकर दोनों उर्वों की पूजा करें पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रों में पंचशराय नमः पांच बाण धारण करने वाले को प्रणाम है कहकर जननेन्द्रिय को पूजा करें नारद कृतिका नक्षत्र में शांग धराय नमः शांग धनुष धारण करने वाले को अभिवादन है कहकर भगवान विष्णु की कटिका पूजन करें इसी प्रकार पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद नक्षत्रों में केशिनी शोधनाय नमः केसी नामक असुर के संहारक को नमस्कार है कहकर दोनों पार्श्व भागों की पूजा करें